उन्नीसवा मास पारायण प्रारंभ मोहि उपदे गुरु गुरुनीका प्रजा सचिव सम्मत का मातु उचित धरियाय यसुदीना अवतितीस धरि चाह कीना गुरपितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिय भल जानी उचित की अनुचित किए विचारु धर्म पातक भारू भारु तो देहु तरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि समुझत हाउनी के तदपि होत परितोषु न जी अब तुम विनय मोरी सुनि मोहि अनुहरत देहु उतरु देव क्षमब अपराधु दुखित दोष गुण गनहिन साधु पितु सुरपुर सिय राम बन करण कहु मोहिराजु हिते हो मोर हित कैपन आपन बड़ काजु गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए मैं उत्तर दे रहा हूं ये अपराध क्षमा कीजिएगा साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं हित हमार सिय पति सेवकाई सो लीन मातु अनुमान मै अनुमानि माही आन उपाय मोर नाही शोक तमाजु राजू केहि लखन राम सिय बिनु पद देखे बादि बसन बिनु भूषण भारु बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारु तरुज शरीर बादि बहु भोगा बिनु हरि भगति जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाई बादि मोर सब बिनु रघुराई जाऊ राम पहि आयसु देहु हे कहियाक मोर हित हु मोहि नृप करि भल आपन चहु सो स्नेह जड़ता बस कहु कैके सुअकुटिल मति राम विमुख गतलाज तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है श्रीहरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं एक ही निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर ही कह रहे हैं कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं साचु सब सुनी पतयाह चाहि अधर्म शील नरनाहु मोहि राज हठ रसा तल जाई जाहि तबहि मोहि समान को पाप पापनिवासु लग सीय राम बनवासु राय राम कहो काननु दीन्हा बिछुरत गमनु अमरपुर मैं सठु सब अनरथ तू बैठ बात सब सुनाओ बिनु रघुबीर बु की आवासु रहे प्राण सही जग उपहासो राम पुनीत विषय रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे लग कह हृदय निदर निदरि पुलितु ही लही बड़ाई कारण ते कार कठिन होई दोसु नहीं मोर कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठो मैं सत्य कहता हूं आप सब सुनकर विश्वास करें धर्मशील को ही राजा होना चाहिए आप मुझे हट करके ज्यो ही राज देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया और मैं दुष्ट जो अनर्थों का कारण हूं होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है कारण से कार्य कठिन होता ही है इसमें मेरा दोष नहीं हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है अनुरागे पावर प्राण अघाय भागे जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे, लखन राम कहु बनुदीन्हा पछई अमरपुर पतिहित कीन्हा अप विधवपन दीन है उप्रजहि शोक संतापू मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु। कीन कै सब कर करकाजू एहित मोर का ते ही पर देन। कु का। कै जखर। जनमि जगमाहि यह मोहि कह कछु अनुचित नाही मोरि बात सब विधि बनाई प्रजा पाँच कट करु सहाई ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते पुनि बीछी मार ते ही पियाय बारुनी कहु काह उपचार कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया स्वयं विधवापन और अपयश लिया प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया कैकई ने सभी का काम बना दिया इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है फिर उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं जिसे कुग्रह लगे हों फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे उसको यदि मदिरा पिलाए जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है कै सुवन जोग जग जोई चतुर बिरंची दीन मोहि सोई दशरथ तनय राम लघु भाई हि मोहि विधि वादि बड़ाई तुम सब कहु कढ़ावन टीका राय रजायसु सब कहनी का देव के ही केहि ही कहु सुखेन। यथा रुचि जेहि मोहि कुमातु समेत बिहाई कहु के भलाई को चर माही जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही हानि सब कह बड़ लाहू मोर नहीं दूषण काहू संशयशील प्रेम बस अहू सब उचित सब जो कछु कहू राम मातु सुठि सरल चित मोह पर प्रेम विशेष कह सुभाय सनेह बस मोरी दीनता दे कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर्विधाता ने मुझे वही दिया पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया गया जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है मेरा बुरा दिन है किसी का दोष नहीं आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है क्योंकि आप लोग संशय शील और प्रेम के वश हैं श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है गुर विवेक सागर जगु जाना जिन्ह विश्व कर बदर समाना तिलक साज सज सो भय विधि विमुख विमुख सबको राम परिहरि सिय जग माही को न कही मोर मत नाही मैं सुनब सुख मानी अंत हूँ कीच सहा जहाँ पानी न मोहि जग कही कि पोचू पर लो कहू कर न सोचू दवारी मोहि लग भेसिय राम दुखारी जीवन लाहु लखन भल पावा सब तज चरण चर लावा मोर जनम रघुबर लागे झूठ काह पछताऊ भागे आपनि दारुण दीनता सब सिरुनाई देख बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं इस बात को सारा जगत जानता है जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है मेरे हृदय में तो बस एक ही दुह सहद दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी आन पाऊ मोहि नहीं सूझा जिय कै रघुबर बिनु बूझा एक ही आंक इही मन माही काल चली हूँ प्रभु पाही यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय कारण सकल उपाधि तदपि तरन सन्मुख मोहि देखी क्षमि सब करी हही कृपा विशेषी शील सकुच सरल सुभाऊ कृपा सनेह रघुराऊ हरिहुक अन भल किन्हन रामा शिशु सेवक यद्यपि तुम पै पांच मोर भल मानी आय सुशिष देहु सुबानी देहि सुनि विनय मोहि जनु जानी आवहि बहुरि राम रजधानी यद्यपि जनम को मातुते सठु सदा सदोस आपन जान न हही मोहि रघुबीर भरो मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल श्री राम जी के पास चल दूंगा यद्यपि मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं भरत बचन सब कह प्रिय लागे राम सनेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम दागे मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, मातु सचिव गुरपुर नर नारी सकल स्नेह विकल भए भय भारी ही कहि सराही सराही राम प्रेम मूरति तनो आहि तात भरत अस काहे न कहु प्राण समान राम प्रिय अहु जो पावरो अपनी जड़ताई तुम्हें ही सुगाए मातु कुटिलाई सो सठ कोटिक पुरुष समेता बसी कलप सत नर केता अही अध अवगुण नहि मन गहई हरई गरल दुख दारिद दहाई। अवसि चलिय बनो जहां भरत मंत्र भल की शोक सिंधु बूढ़त सब ही तुम अवलंबनु दी भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है हे तात भरत आप ऐसा क्यों न कहें श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकई की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित सौ कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है हे भरत जी वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया भा सबके मन मोदु न थोरा जन घन धुनि सुनी चातक मोरा चलत प्रात प्रातल निरनौनीके भरत प्राण प्रिय भे सबही के मुनि भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही सीलु तनेहु सराहत जाही कहि परस पर भाबड़ काजू। सकल चले कर साजहि साजु जहि रहो घर रखवारी सो जान जनु गर्दन मारी को कह रहन कहिय नहीं काहू न चहै जगजीवनला जरौ सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद न सहस सहाय सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हैं दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले जगत में भरत जी का जीवन धन्य है इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ सभी चलने को तैयारी करने लगे जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करे घर घर साजही बाहन नाना हर हृदय पर भात पयाना भरत की विचारु नगर बाजी गज भवन भंडारु संपति सब रघुपति के बिनु जतन चलो सजिताहि परिणाम न मोरि भलाई पाप सिरो मनि साई करई कर सेवक सोई दूषण कोटि देई लेकिन कोई अस सुचि सेवक बोले जे सपने हु निज धर्म न डोले कहि सब मरम धर्म भल भाषा जो लायक सोते ही राखा करि सब जतनु राखी रखवारे राम मातु पहि भरतु सिधारे आरत जननी जानि सब भरत सने सुजान कहे बनावन पाल की सजन सुखासन जा घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है सेवक वही है जो स्वामी का हित करे चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखपाल सजाने के लिए कहा चक जिमि पुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी जागत सब सबनिसि भय बिहाना भरत बुलाए सचिव कहे उले हु सब तिलक समाजु बनहि देव मुनि रामहि राजू वेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे तुरग रथ नाग सवारे अरुंधति अरु अग्नि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम चढ़ी वाहन नाना। चले सकल सपतेज नगर नगरलोग सब सज सज जाना। चित्रकूट सिंह पयाना सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी सोप नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा तिलक का सब सामान ले चलो वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे जल्दी चलो ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले राम दरस बत सब नर नारी कर करि चले बारी राम समुझ मन माही सानुज भरत पया देहि जाही देखी सने लोग अनुरागे उतरी चले हय गय रथ त्यागे जाई समीप राखी निज डोली राम मातु मृदु बानी बोली सात चढु रथ बलि महतारी हो प्रिय परिवारु दुखारी तुम्हरे चलत ही सब लोगु सकल शोक नहीं मग जोगू सिर धरि बचन चरण सिरुनाई रथ चलत भय दो भाई समसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमति तीर निवासु। पय आहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर जा रहे हो श्री सीता जी राम जी वन में हैं ऐसा मन में विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब हाथी घोड़े रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली हे बेटा माता बलैया लेती है तुम रथ पर चढ़ जाओ नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं पैदल चलने के लिए ये रास्ते योग्य नहीं हैं माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे पहले दिन तमसा नदी पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया कोई दूध ही पीते कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं तीर बसि चले विहाने सब नियराने, समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार सब शादा कारण कवन भरतु बन जाही है कछु कपट भाव मन माही पै जियन होती कुटिलाई संग कटकाई जान कटकायी राम ही मारी करक राज सुखारी भरत न राज नीति पुर्यानि तब कलंकु अब जीवन हानि सकल सुरासुर सुर जुरहि जुहारा रामहि समर न जीत निहारा का आचर जुभरतु असरी बेली अमिया पल फरही अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहे उस जग सब हो हथवा सहु बो रहु तरनी कीजिय घाटारो रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं मन में कुछ कपट भाव अवश्य है यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया तब तो कलंक ही लगा था अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ नाव को कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो संजोल रो कहु घाटा ठाटहु सकल मर के ठाटा सनमुख लोह भरत सन ले जियतन सुर सरि उतरन दे समर मरनु पुनि सुर सरि राम काजु छन भंगु सरीरा भरत भाई नृपु मैं जननी बडे भाग असी। य मीचु स्वामी काज करी जस धवली ह भुवन दसचारी सजौ प्राण रघुनाथ निहोरे दूहू हाथ मुद मोदक मोरे साधु समाज न लेखा राम भगत जा सुन महो जियत जग सो महि भारू जननी जौबन बिटप कुठारू विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उचाहु सुमिरी राम मागे उतुरत तरकस धनुष सना सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और चौदहों लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तर्कस धनुष और कवच मांगा बेगहु भाई हूँ हो सजो सुनि रजाई कद राय न को भले ही नाथ सब कहहि सहर्षा हे कही एक बढावै करशा चले निषाद जोहारी जोहारी सूर सकल रन रारी राम पद पङ्कनहि भाथी बांधी चढ़ाई नहि धनहि अंगरी पहिरी कुरी सिर धरहि हरसा बास सेल करही कुशल अति ओड़न खाड़े कूदहि गगन मनहु छि छाड़े निज निज साजु समाजु बनाई गुहराउ तहि जुहारे जाई देखि सुभट सब लायक जाने नाम सकल सन माने भाई हुलावहु धोख जनी आज काज बड़ मोही सुनि सुनिसरोष बोले सुभट वीर अधीर न हो उसने कहा हे भाइयों जल्दी करो और अब सामान सजाओ मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे सब हर्ष के साथ बोल उठे हे नाथ बहुत अच्छा और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे निषाद राज को वंदना कर करके सब निषाद चले सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने छोटे छोटे तरकस बांधकर छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को वंदना की निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया उसने कहा हे भाइयों धोखा न लाना आज मेरा बड़ा भारी काम है यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे हे वीर अधीर मत हो राम प्रताप नाथ बल तोरे करहि कटक बिनु भट बिनु भोरे जीवत पाऊ न पाछे धरही करहि दीख निषाद नाथ टोलु कहे उ बजाओ जुझाओ ढोलु एत न कहत छीक भई बाए कहे उ खेत बूढ़ुए बु कह सगुन विचारी भर मिलियन हो रारी राम ही भरत मनावन जाही सगुन कह अस बेग्रहु नाही सुनि गुह कह बूढ़ा सहसा करि पछताहि वि भरत सुभाव सीलु बिनु बड़ी हित हानि जाने बिनु जूझे घाट बट समिति सब ले उमरम मिल बुझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करि नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की ही कर देंगे जीते जी पीछे पांव न रखेंगे पृथ्वी को रुंड मुंड मई कर देंगे निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर जुझारू ढोल बजाओ इतना कहते ही बाई और छींक हुई शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है अर्थात जीत होगी एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा भारत से मिल लीजिए उनसे लड़ाई नहीं होगी भारत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ये सुनकर निषाद राजगुह ने कहा बूढ़ा ठीक कह रहा है जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है अतएव हे वीरो तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूं उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का ये जानकर तब आकर उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा लखब सने हु सुभाय सुहाए बैरु प्रीति नहीं दुरई दुराए अस भेट भेंट संजोवन लागे कंद मूल फल धग मृग मागे मीन पीन पाचीन पुराने भरी भरी भार है आने मिलन साजु सज मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए देख दूरी ते कही निज निमू किन् मुनि सही दंड प्रणामू जानि राम प्रिय दी भरत ही कहे बुझा मुनिसा राम सखा सुनी संदनु त्यागा। चले उतरि मगत अनुरागा गाओ जाति गुह सुनाई तीन तीन जुहारु माथ महिलाई करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई मनहु लखन सन भेट भई न हृदय समान उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा ये श्री राम का मित्र है इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले निषाद राजगुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर वंदना की दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया हृदय में प्रेम समाता नहीं है मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो भेटत भरतुताहि लोग लोगतिहा प्रेम कैरीति धन्य धन्य धुनि मंगल सुर सुरसराहितेहि सही फूला लोक वेद सब ही नीचा जासु असीचा ला ही भर अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता, राम राम हि जे जमुहाही सिन्हि न पाप पुंज समुहाही यह तो राम लाय उरलिन्हा कुल समेत जगु पावन करम नास जलु रि पराई ते को कहु सीत नहीं धरई उलटा नाम जपत जगु जाना वमि की भय ब्रह्म समाना स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है उसी निषाद से अंकवार हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो रहे हैं जो लोग राम राम कहकर जमा ही लेते हैं अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है पापों के समूह उनके सामने नहीं आते फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता जगत जानता है कि उल्टा नाम अर्थात मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं नहीं अचिर जु जुग जुग चलियाई के के नदीन ही रघुबीर बड़ाई राम नाम महिमा कही सुनि सुनि अवध लोग सुख लही राम सखहि मिली भरत सप्रेमा पूछी कुशल सुमंगल खेमा देखी भरत कर ील सने भानिषाद ते समय विदेहु सकुच कुछ मोदु मन बाढ़ा भरत ही चितवत हि ठाढ़ा धरि धीरजु पद बंदी बहोरी विनय स प्रेम करत जोरी कुशल मूल पद पेखी पेखी मतिहु काल कुशल निज लेखी अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे सहित कोटि कुल मंगल मोरे समुझि मोरि कर तूति कुल प्रभु महिमा जी अजो जो न भज जग वीरपद जगविधि वञ्चित सोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं भाई सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय प्रेम मुक्त होकर देह की सुध भूल गया उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता ही रहा फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा हे प्रभो कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया अब आपके परम अनुग्रह से पीढ़ियों सहित मेरा कल्याण हो गया कपटी कायर कुमति कुजाती लोक वेद बाहिर सब राम आपन जब ही ते भयौ भुवन भूषण ही ते देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई मिले उ भरत लघु भाई कही शाद निज सुबानी सुबानी सादर सकल जोहारी रानी लखन समदेहि असीसा जियहु सुखी सय लाख बरीसा निरखि निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लु लहे ही जीवन लाहू भेट राम भद्र भरी बाहू सुनि निषादु निज भाग बड़ाई प्रमुदित मन लय चले उलेवाई सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तरु तर बाग बन बास बनाए नहीं जाए मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार कर अर्थात कहां तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहां अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहैतुकी कृपावश अपना लिया ये समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूं और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूं पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूं निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक वंदना की रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं तुम सौ लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब भेसनेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु एहि विधि भरत सेनु सब संगा दीखि जाय जग पावनि राम घाट कः कीन् प्रणाम भामनु मगनु मिले जनु नगर नर नारी मुदित माय बारी निहारी करिमा जनु मा जोरी रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी भरत कहेऊ सुरसरितवरेणु सकल सुखद सेवक सुरधेनु जोरि पानि बर मा गौवे राम पद सहज सनेः एहि विधि म जनु भरतु करी गुरु अनुशासन पाई मातु नहानी जानी सब बेरा चले लवाई भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए वे निषाद को लाग दिए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए श्री राम घाट को जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं ही श्री राम जी मिल गए हों नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो भरत जी ने कहा हे गंगे आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो काम धेनु ही है मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा भरत सोधु सब ही कर करलीन्हा रसेवा सेवा राममातु सुपाई राम मातु पहि चापि दो चापि मृदुबानी मृदु बानी जननी सकल भरत सनमानी भाई सा मातु सेवकाई आप निषाद लीन बोलाई चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर स्नेह न थोरे पूछत सखहि सोठाऊ देखाऊ नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ जहसी राम लखन सोए कहत भरे जल लोचन को भरत बचन सुनि भयौ विषादु तुरत तहा लय गय निषादु जहसिन सुपा तर रघुबर किय बेश्राम अति स्नेह सादर भरत कीन्हे उदंड प्रणाम लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया भरत जी ने सभी का पता लगाया फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है भरत जी सखा से पूछते हैं मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहां सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया साथरी सुहाई सुहाई इन प्रणाम जाई चरण रेख रज आखिन लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाई कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे सीय समलेखे सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी, श्रीहत सि बीर दुतिहीना जवध नर नारी बिलीना पिता जनक देव पट तर कर करतल भोग जोग जग ही ससुर भानुकुल जेहि सिहात अमरावति पालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो होत सो राम पति देवता पतिदेता यमनी हसी साथरी देखी बिहरत हृदय न हरिहर पबिते कठिन विशेषी कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदीक्षिणा करके प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानी भरी है वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दू सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राण नाथ हैं जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की कुश शैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता है हे शंकर ये वज्र से भी अधिक कठोर है लालन लालनोगुलखन भे न भाई अस अहहि न होने प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीरहि प्राण पियारे रे मृदु मूरति सुकुमार सुभाव सात बाव तन लाग न काव से बन सहाहि विपति सब भाति निदरे कोटि कुलिस एहि छाती राम जनम जगो कीन उजागर रूप तील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुर पितु माता राम सुभाव सब ही सुख दाता बैरियु राम बड़ाई करहि बोलनी मिलनि विनय मन हरही सारद कोटि कोटि सत सतशेषा न सकही प्रभु गन लेखा सुख स्वरूप रघुबन मनी मंगल मोद निधान त्वे सोवत कुसडासि मही विधि गति अति बलवान मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने के ही हैं जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं आए इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया नहीं तो ये कभी की फट गई होती श्री रामचंद्र जी के जन्म अर्थात अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं विधाता की गति बड़ी ही बलवान है राम सुना दुख कान काऊ जीवन जिमि जोग वैराउ पलक नयन फनि मनि जेहि भाति जोग वही जननि सकल दिन राति से अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी भिग कै मूला भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला मैं धिग अघ उदधि अभागी सब उत्पात भयौ लागी कुल कलङ्करी विधाता साई दो मोहि कीन् कुमाता सुनि निषादू नाथ करियकत बादि विषादु राम ही प्रिय तुम प्रिय ही यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे सब माताएं भी दिन भर उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों और सांप अपनी मणि की करते हैं वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं अमंगल की मूल कैकई धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पाद हुए विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा हे नाथ आप व्यर्थ बुषाद किस लिए करते हैं श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं यही निश्चिंत सिद्धांत है दोष तो प्रतिकूल विधाता को है विधि बामती करनी कठिन जेहि मातु की बावरी तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहतु हो सोहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आनिए जुहिए प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है जिसने माता कैकई को बावली बना दिया अर्थात उसकी मति फेर दी उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे तुलसीदास जी कहते हैं निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है मैं सौगंध खाकर कहता हूं परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए अंतर जामी राम। सकुच सप्रेम कृपायतन चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढयानि मन श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए सखा बचन सुनी उर धरी धीरा बास चले सुमिरत रघुबीरा यह सुधि पाई नगर नर नारी चले विलोकन आरत भारी पर परदक्षिणा करि करहि प्रणा देहि कहि खोरि निकामा भरि भरि बा बलोचन लेहि विधा दूषण देहि तराहि भरत सनेहु को कहनि निवाहे उनेहु निन्दहि आपुशराहि निषादहि को कहि सकै विमोह विषादहि यहि विधि राति लोग सब जागा भाभिनुसार गुदारा लागा गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई नई नाव सब मातु चढ़ाई चढाय महाभा सब पारा उत्तरी भरत तब सबहि संभारा प्रात क्रिया करिमातु पद बंदि गुरहे सिरुनाई आगे किए निषाद गन दीन्हे उकट चलाई सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे सवेरा होते ही खेवा लगा सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने विषाद गणों को रास्ता दिखनाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी निषाद नाथ अगुआई मातु पालकी सकल चलाई साथ बुलाई भाई लघु दीना विप्रन सहित गवनो गुरकीना आप कीन प्रनामु सुमिरे लखन सहित सियरामु गवने भरत पया दही संग कोतल डोरियाए कहि सुसेवक बारहि बारा अनाथ अश्व राम पया देहि पाय सिधाए, हम गज बाज बनाए सिर भर जाओ उचित अस मोरा सेवक सेवक धर्म कठोरा देख भरत गति सुनि मृदुबानी तब वक गरही गलानी भरत तीसरे पहर कहा किन प्रभे सुप्रयाग कहत राम रामसिय राम उमगी उमगी अनुराग निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया भरत जी पैदल ही चले उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं उत्तम सेवक बार बार कहते हैं हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानी के मारे गले जा रहे हैं प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया झल का पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे भरत पया आए आजू भय सुनि सकल समाजू खबर लीन है सब लोग नहाए चीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए सविधि सिता सित नीर नहाने दिए दान महिसुर सन माने देखत श्यामल धवल हलोरे कुल क शरीर भरत करजोरे सकल काम प्रद तीरथ राव वेद विदित जग प्रगट प्रभाव मा भीख त्यागी निज धरमू रत काहन न अस जिय असजिय सुजान सुदानी सफल जग करहि जाचक बानी अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चह निर्वाण ज्ञान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया अर्थात गंगा और यमुना में फिर दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा उन्होंने हाथ जोड़कर कहा हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है मैं अपना न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं आर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं मुझे न अर्थ की इच्छा है न धर्म की न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूं जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो बस यही वरदान मांगता हूं दूसरा कुछ नहीं जानहु राम कुटिल कर मोही लोग कहो गुर साहिब द्रोही चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे जल दुजनम भरि सुरति विसारौ जाचत जलु पवि पाहन डारौ कुरटनि घटे जाई बढ़े घट सब सब भाति भलाई कनकहि पान चढ़ाई जिमिदाे तिम प्रियतम पद नेम मिबाहे भरत बचन सुनि त्रिवेणी भय सुमंगल देनी सात भरत सब विधि साधु अगाधु वादि गलानी करहु मन माही म सम रामहि कोप्रिय नाहि तनुपुल केहि हर्ष सुनी बेनी बचन अनुकूल भरत धन्य कहि धन्य सुर हर्षित बरसही देखो स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानी कर रहे हो श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया हृदय में हर्ष छा गया भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे प्रमुदित तीरथ राजनिवासी बैखानस बटु ग्रही उदासी परस पर पर दस पाचा भरत तने हुसीलु सुचि साचा सुनत राम गुन ग्राम सुहा भरद्वाज मुनि बर पहियाए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज निजलेखे लाय लाय ने दी ही असीस कृतारथ आसनु दीन नाय सिर बैठे चहत शहत ग्रह जनु बैठे मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो बोले ऋषि लक्ष सीलु सुनहु भरत हम सब सुधि पाई विधि कर तब पर किछु न बसाई तुम जिय जन करहु समझि मातु तूती तात कै कही दोस्त नहीं गई गिरामति धूती तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वनप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और दस पांच मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया मुनि ने उन्हें आसन दिया वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले भरत सुनो हम सब खबर पा चुके हैं विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानी मत करो हे तात कैकई का कोई दोष नहीं है उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी यह कहत भल कही न को लोक बेदु बुध सम्मत दो सात तुम्हार विमल जसु गाई पाई ही लोक बेदु बड़ाई लोक वेद सम्मत सब कहाई जेहि पितु दे राजु सोलह सत्य व्रत तुम्हें बोलाई देत राजु सुख धर्म बड़ाई राम गबनु बन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भै सूला स्वी बतरी कुचाली अंत हो पछितानी सह तुम्हार अलप अपराधु कहै सो अधम अयान असाधु करते हु राज तुम्हि न दोषु राम हि होत सुनत संतोषु अब अति कीन्हे हो भरत भल तुम ही उचित मत हो सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने हो ये कहते भी कोई भला न कहेगा क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है किंतु इतात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है राजा सत्यव्रती थे तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता धर्म रहता और बड़ाई होती सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया यही मत तुम्हारे लिए उचित था श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है तो तुम्हार धनु जीवन प्राणा भूरी भाग को तुम ही समाना यह तुम्हार आचर जुनता दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता सुनहु भरत रघुबर माही प्रेम पात्र तुम सम को नाही लखन राम सीता ही अति प्रीति सब निहि सराहत बीती जाना जानामर महा प्रयागा मगन हो ही तुम्हरे अनुरागा अस सने हु रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के अधिक रघुबीर बड़ाई प्रणत पाल रघुराई तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह राम तुम कहा भरत कलंक हम सब कहा उपदेसु राम भगति भाय भायः समगने सो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तार तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो हे भरत सुनो श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे तुम पर श्री रामचंद्र जी का अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं हे भरत मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी ही श्री राम जी के प्रेम ही हो हे भरत तुम्हारी समझ में यह कलंक है पर हम सबके लिए तो उपदेश है श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश अर्थात बड़ा शुभ हुआ है नव विधु जसु तोरा रघुबर किंकर चकोरा उदित सदा अथैहि घटि न जग नभ न दिन दूना कोक तिलोक प्रीति अति करी प्रभु प्रताप रवि न दिन सुखद सदा तब काहू ग्रसिहि न कर तब राहू पूरन राम सुपेम पीयूषा गुर अवमान दोष नहीं दूषा राम भगत अब अमीय अघाहू कीने हु सुलभ सुधा वसुधा भगीरथ रसरियानि सुमिरत सकल सुम दशरथ गुण गन वरनि न जाहि अधिक कहा जेहि सम जग नाहि जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भय आई जे ही अनयन कबहूँ निरख नहीं अघा तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा कभी अस्त होगा ही नहीं जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं वरन दिन दिन दूना होगा त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे क्रॉस नहीं करेगा यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें राजा भगीरथ गंगा जी को लाए जन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए विधु तुम कि अनूपा रूपा तात गलान हो जियजाये जाए डर प्रहि पारसु पाए सुनहु भरत हम झूठ न कही उदासीन तापस बन सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम दर्शन पावा, से ही फल कर फलू दरक तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा भरत धन्य तुम जसु जगु जय कही अस प्रेम मगन मुनि भय सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे साधु सराहि सुमन सुर धन्य धन्य धुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा पुलक गात हिय सिया सजल सरो रुहन करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है हे तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानी कर रहे हो पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो हे भरत सुनो हम झूठ नहीं कहते हम उदासीन हैं किसी का पक्ष नहीं करते तपस्वी हैं किसी की मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं अर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ सीता सहित लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है हे भरत तुम धन्य हो तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं भरत जी का शरीर पुलकित है हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले मुनि समाज अरुतीरथ राजु हो सपथ अघाई अकाजु एहि थल कहिय किछु बनाई एहि सम अधिक न अध अधमाई तुम ज्ञा सति भाव उर अंतर जामी रघुरा मोहिन मातु कर तब कर सोचु नहीं दुख जिय जग जानी पोचू नाहीन डरू बिगरी परलोकु पितहु मरण कर मोहिन शोकु सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाय लक्ष्मण राम सरस सुत पाए राम तज भंगु भूप सोच कर कवन राम लखन सिय पग पनही करि मुनि वेष बन बनही अजिन बसन फल असन मही सयन दास कुस पात बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरसाबात मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है यहां सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी मैं सच्चे भाव से कहता हूं आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं मुझे माता कैकई की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है सोच इसी बात का है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं वे वलकल वस्त्र पहनते हैं फलों का भोजन करते हैं पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं एहि दुख दाह दहाई दिन छाती भूख न बासर नींद न राती, एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधेऊ सकल विश्व मन माही, मातु कुमत बढ़ई अघमूला हमार हित कीन बसूला कलि कुकाठ कीन कुजंत्रू, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रू, मोहि लगी यहू को ठाटुते ही ठाटा सी सब जगु बारह बाटा मिटई कुजोगु राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई सब की बहु भाति सात करहु जनि सोचु सब सोच ही राम पग देखी कर प्रबोध मुनि बर कहे अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल फूल हम ले हूं करी छो इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है उसने हमारे हित का वसूला बनाया उससे कलह रूपी कुकांठ का कुयंत्र बनाया और चौदह वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है दूसरे किसी उपाय से नहीं भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की मुनि ने कहा हे तात अधिक सोच मत करो श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार करिए सुनि मुनि वचन भरत ही सोचू भयौकु अवसर कठिन न सकोचु जानि गरु गुर बहोरी चरण बंदी बोले जोरी सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा परम धर्म यहुनाथ हमारा भरत बचन मुनि बर मन सुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए च यकीन् भरत पहुनाई कंद मूल फल भल हि नाथ की दिन सिर नाए प्रमुदित निज निज काज मुनि सोच बड़ नेवता तस्य पूजा चाहिए जस देवता सुनिधि सिधि अनिमादिक आई आयसु सुहो सुकरहि गोसाई राम ब्या कुल भरतु सानुज सहित समाज पहुनाई कर हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बे मौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को बुलाया और कहा भरत की पहुनाई करनी चाहिए जाकर कंदमूल और फल लाओ उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और बोली हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं इनका आतिथ्य सरकार करके इनके श्रम को दूर करो रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरबानी बड़ भागिनी आप ही अनुमानी परस पर सिधि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई मुनिपद करई कर सोयाजू हो सुखी सब राज समाजू अस कही रचे रुचिर बिलो की बिलखाहि विमाना भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जिन्हि अमर अभिलाषे दासी दास साजु सब लीन है जोगवत रही मन ही मनुदीन है सब समाज सज सिधि पल माही जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही थमहि बास सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि सपरिजन भरत कह ऋषियस आय सुदीन विधि विस्मय दायक विभव मुनिबर तप बल की रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा सब सिद्धियां आपस में कहने लगी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी लजा जाते हैं उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिया पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रचा दिया मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का तब लघु लग लोक पति लोका सुख समाज नहीं जाय बखानी देखत विरति विसार ज्ञानी आसन शयन सुबसन बिताना बिहग बाटिका नाना सुरभि फूल फल अमीय समाना विमल जलाशय विभिद विधाना अचन पान सुचि अमीय अमी से लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु बहि के लख अभिलाषु सुरेश चचि के ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी सब कह सुलभ पदारथ चारी चंदन बनिता दिक भोगा देखि हरश बस बसलोगा संपति चकई भरतु चक मुनियायस खेलवार तेहि आश्रम पिंजरा राखे भा सार जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले काम धेनु और कल्प वृक्ष हैं जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है वसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं अर्थात हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तब प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को तो न त्याग देगा संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया मांस पारायण उन्नीसवां विश्राम सियापति रामचंद्र की जय